साधन और साध्य दोनों एक साधन और साध्य जहाँ एक हो जाता है हाँ, साधन साध्य जुड़ा रहता ही नहीं कभी न तपस्या बस्ती न चारित्र बस्ता कुछ नहीं बसता केवल चैतन्य अरे वहाँ तक जाने का है तो सबको एक जगह पे जाने का है हम्म। जैसे लास्ट हम्म। स्टेशन इससे आगे कोई स्टेशन नहीं अक्रम दीदी आपकी अक्रम दीदी हाँ। वो क्या है आपकी अक्रम विधि है वो क्या है वो सब अभी स्वामी तीर्थंकर ना मार्ग जो है वो धोरी मार्ग है राजमार्ग है वही सच्चा मार्ग है भोग का अक्रम इसका सच्चा मार्ग नहीं है अक्रम तो डाइवर्जन मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग टूट जाता है और मार्ग नुकसानकार हो जाता है ये सब डाइवर्जन मार्ग छोड़ता होता है फिर वो मार्ग पूरा अच्छा हो जाएगा फिर डाइवर्जन बंद हो जाता है सड़क पूरी बनने के बाद डाइवर्सन की जरूरत नहीं है वो डाइवर्जन मार्ग છે ખાલી અક્રમ એટલે ક્રમ નહીં ક્રમિક એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમિક માર્ગ હા. Step by step step by step step by step આગળ ચલે જાઓ મોક્ષ તરફ અને અક્રમ એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ની લીફ્ટ માર્ગ જ્ઞાની પુરુષ की लिफ्ट में बैठ गया और दूसरा कुछ वो अक्रम क्रम बहुत उसमें अक्रम दूसरे जाने के लिए से बैठ कर कहीं किसी ने ज्ञान पाया आज तक ठीक है सर तो कहते हैं कि दूसरे ज्ञानी की लिफ्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं हो रहा है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो भ्रम नहीं था हाँ हाँ कारण वो औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ जो हुआ था ये अक्रम था नहीं तो क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में इनका अक्रम जाने से संबंधों के असोचा ही सारे अक्रम जाने और असोचा केवली हाँ क्रम ऐसा नहीं होता है क्रम तो क्रमिक होना चाहिए और प्रीति स्त्री से जुड़ा होना चाहिए स्थिति का साथ वो नहीं चलेगा क्रम में क्या बोलता है કે નવમાં ગુણ સ્થાન આગે નહીં જતા સ્ત્રી કી સાથ ગુણ સ્થાન आगे नहीं जाता है पर वो अक्षम है उसको कोई जो वास्तव बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा ये प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खलास हो जाता है जिधर कर्म बनता था बंद हो जाता है कर्म भी बन जाता है वो इधर फंसते धंधा करते खाना खाता पीते पर धर्म कर्म बन जाता नहीं होता है एक एक एक अवतार का बंधाता है खाली हमारी आज्ञा पालते पालता है लोग। पांच आज्ञा दिया है अच्छा वो निरंतर पालता है चौबीस कलाक निरंतर ऐसा बीस हजार आदमी पालता है हाँ क्या पांच आज्ञा है ट्वेंटी थाउजेंड निरंतर चौबीस कलाक हाँ पांच आज्ञा हमारी पालता है और इसलिए उसको कर्म कर्म की जिम्मेदारी हमारी इनकी नहीं है इसमें क्या है। क्या पांच आज्ञा है પાંચ આજ્ઞા શું છે પાંચ આજ્ઞા क्या है वो तो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर आप जरूर आप में हेल्प नहीं करे आज कुछ हाँ। हम आज्ञा क्या बताता है हम धीरे चक्र देता है इसको हाँ। क्या देता है हम्म। धीरे चक्र तो।, तो आपका खुद खुद का आत्मा भी इसको दिखाने में आता है दर्शन में आता है हाँ। और दूसरा जो आत्मा भी दर्शन में आता है અખંડ મિલવું કોઈ પણ ચીज જીવાત્મા की आपके अंदर देख सकता है आपका हाँ। आपको देख सकता है आपका आत्मा भी देख सकता है हम्म। तो ये आंख से आपको देखता है आपको हम्म। इससे वो दो दो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारी कैसी देखने का आप समझ हाँ। दो आज्ञा हाँ, हाँ, ये प्रज्ञा का काम है इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम है प्रज्ञा प्रज्ञा तो बुद्धि से आगे वो सबको प्रज्ञा ही हो गई हाँ जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है हाँ, तब तक तो ये आप काम करेंगे और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है रिश्तेदार आदि को हमने बोला है की एक चिंता था तो हमारे पास चिंता भी नहीं वो तो कहती है समाधि निरंतर समाधि रहना चाहिए निरंतर समाधि रहना हम्म। और औरत की साथ लड़के की साथ कोई भी कोई भी स्टेज में समाज रहना चाहिए अब विज्ञान चौबीस तीर्थ का विज्ञान मेरा विज्ञान नहीं है मैं तो उनका निमित्त हूँ विज्ञान मेरा नहीं चौबीस तीर्थंकर भगवान का मैं तो उसका निमित्त हूँ खाली समझे वो सब लोग क्या बोलता है कि क्या अपना मार्ग दादा भगवान का ये चले नहीं महावीर भगवान का शासन बचता है क्या बचता है महावीर भगवान का और हम इसका कलक है सर हाँ, हाँ। आपने ये कैसे प्रगटा आपने ये कैसे प्रगटा कोई ऐसे प्रकट हुआ हमने कुछ किया नहीं ऐसे प्रकट निमित्त कैसे बन गया निश्चित बट नेचुरल वो तो निमित्त कैसे बन गया निमित्त कुछ नहीं हुआ एक जगह में बैठ बैठा हाँ। और ग्वालियर करके देखा मैं साढ़े पाँच बजे दुर्ग का दिन दे ट्रेन में तो अवियर किया और पुलिस का किसी साढ़े पाँच बजे उतर गया छह बजे तो छह बजे बैठा वो चालू हो गया बाकड़ा में नहीं तो ये जो आपकी भाषा है ये जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपकी ये संस्कार आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे या ये सारी गुजरात की भाषा है गुजरात की भाषा जो निकली ગુજરાતની ભાષા જે નીકળી એ પહેલા હતા સંસ્કાર કે આજ પછી થયા पहला संस्कार था पर इगोइज्म वाला संस्कार था वाणी ऐसी थी अच्छा तो इगोइज्म पॉइजनस हाँ इगो के साथ था पॉइजनस बिल्कुल क्या करने का उसका सिर टूट जाता है था मारता कर तो हेल्प नहीं करता है हम्म। कभी इगोइज्म से खलास हो गया वो दिन जो दिन ज्ञान हो गया वो दिन जो विशुद्धार्थ हो गया ममता भी खराब हो गई सब दुनिया कैसी चल रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किसने बनाया कैसे चलता है किस घर से चलता है रॉन्ग वे क्या है राइट वे क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी भूल रही है सिर्फ रॉन्ग बिलीफ से भूल रही है सभी रॉन्ग बिलीफ है कोई भी जाति बिलीफ रॉन्ग ही है तो ये महावीर की भाषा तब प्रगति है ये महावीर की भाषा तब प्रगति એ વખતે મહાવીર ની ભાષા પ્રગટ बस वही हम क्या पूछता है क्या क्या नाम सेठ आपका जेठाभाई भाई जेठाभाई खरे जेठाभाई जो भाई कहते हैं सब लोग હા ખરેખર કોણ તો હવે આત્મ સ્વરૂપ જયારે જાણીએ ત્યારે ખબર પડે આત્મ સ્વરૂપ જયારે જાણીએ ત્યારે ખબર પડે હા પણ ત્યાં સુધી તમારું નામ જેઠાભાઈ તમે જેઠાભાઈ જેઠાભાઈ આ શરીર ને લોકો જેઠાભાઈ કે છે હા ઓળખવાનું સાધન છે જેઠાભાઈ અને તમે તમે બતાવી પડ્યા છો એક સાધુ છે એક સાધ્વી છે એક છે એક સાધન છે હું તમે ડબાઈ હું છું લોકોને ઓળખવાનું જે સાધન જેઠા ભાઈ હા તે તમે દબાઈ પડે કે હું જ છું આ હા મમત્વ ભાવ That is the first wrong belief. તમને wrong belief બેસી આ તમે જે છો એ જાણતા નથી અને નથી તેનો આરોપ કરો છો that is the first wrong belief. અને આ પછી આ બાયનો ધણી તો બીજી wrong belief, હું જૈન છું ત્રીજી wrong belief, હું પચાસ વર્ષનો ચોથી wrong belief, હું ગોળો છું પાંચી રહ્યો હું મામો છું કુવો છું કેટલી wrong belief બેઠી ये છે नामकरण की सारी प्रकृतियां ही आरोपित है तो ये नामकरण की सारी प्रकृति नाम कर्म नहीं कर्म नहीं कर्म नहीं नाम कर्म अरे कर्म नाम कर्म की सारी प्रकृतियाँ आरोपी ही है तो फिर ये वो राम बिलीफ तत्व है हाँ। वो राम बिलीफ ज्ञानी पुरुष क्या करता है राम बिलीफ को फ्रैक्चर कर देता है और राइट बिलीफ बैठा दे रहा है राइट बिलीफ राइट बिलीफ जिसको समय दर्शन होता है वो बैठा देता है आप ये है ये नहीं है आप ये है ये नहीं है तो वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अकम्मा जानी पासी अकम्मा जानी पासी अकर्म जानता है देखता है ये दुनिया में कोई आदमी ना खाने को पसंद करे करता है, हम्म। है? कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं पसंद तो नहीं हमारे यहाँ बीस हजार आदमी माँ खाने से उसको समाधि होती है ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मगर माँ खाने से ज्यादा समाधि कैसे कैसे मार खाते हैं कैसे मार खाते हैं क्या है कई विधि से मार खाने એક એક એક એક જતન તો એક એક સમાધિ છે મોક્ષ છે આત્મા મોક્ષ છે ભરે છે આપડા હા તો जैसे प्रयोग है આ ભગવાન ચોવીસ શિક્ષકો નો મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી શું દુઃખ થાય છે કોઈ દુઃખ હોય નહીં तुमको क्या लगा है क्या लगा तुमको वो सब ब्रह्मचारी है लोग सब ब्रह्मचारी मन नहीं, से नहीं, क्या काय- लगा એમ तुमको પૂછે છે તમને तुमको नहीं नहीं क्या उनको नहीं उनसे पूछ रहा हाँ એમને પૂછે છે કે तुमको क्या लगा है બોલને બોલને જવાબ આપો ને. जब अभी मार खाई क्या लगा तुमको વાતચીત કરે ને સાહેબ જોડે વાતચીત એમાં સૌથી મોટા ને પેલું બોલવું પડે એમને કાયદો છે મોટો છે કેટલો વખત નિરંતર નિરંતર તમે ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસાર કરો નહીં કષ્ટ હોગા નહીં કષ્ટ નહીં નહીં દો બાત एक तो कष्ट होता है और हम सब भाव से चयन करते एक तो कष्ट होता है उसको सम भाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है मतलब दो बातें अलग अलग एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल सम भाव में रह जाते एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती हमारा संभाव रहता है कुछ नहीं लगता है नहीं ये मुझको कुछ नहीं लगता अनुभव नहीं होता है क्या कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख लेते एक तो ये स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन ही समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती है फीलिंग એક તો કષ્ટ સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવમાં રહે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય તો કે તને શું રહે તેને પણ મને સંભાવ રહેશે એને એવું કહ્યું કે મને સંભાવ રહેશે એટલે અમે બીજી સ્થિતિ એવી છે કે એમાં કષ્ટ ની સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે સંભાવ રહેશે રાખવાનું નહીં પડતું સંવેદન જ રહે નિરંતર સ્વસંવેદન સ્વસંવેદન थोड़ा सा हाँ ये समनिया जो बात हुई हाँ, हाँ मैं थोड़ा सा उधर हाँ હા हाँ हाँ भाई थोड़े से भाई थोड़े भाई इधर हाँ हाँ हाँ आपने क्या कहा मैं सुन नहीं सका हाँ नहीं आप આપ શું કહેતા આ- આ नहीं कष्ट का संवेदन और इस बारे में आप क्या कह रहे थे કષ્ટ નું સંવેદન એમ આપ- એના વાત- આપ- એના માટે કંઈ કહ્યું ને આપણે એમને સ્વ- સ્વસંવેદન રહે છે બોલો નહીં हाँ समय को एम कहता શબ્દો એમને ના આવડે આ લોકો ના આવડે બિચારા <laughs> આ તો હજુ ખાતા નથી આવડતું આ તો જ્ઞાની પુરુષ ના ફળ બેઠા ભગવાન થઈ જાય લે ક્યાંથી આવડે પણ પોતે અનુભવ થી વર્તે આપ કહીએ આપ ક્યાં તમે કહો કે શું રહે એમ એ સંવેદન વિશે આપ કહો એમ કહે છે. नहीं कष्ट का संवेदन नहीं होता या कष्ट में संभाव रहता है બે વસ્તુ કહી એમણે એક તો કષ્ટમાં કષ્ટનું સંવેદન થાય કષ્ટનું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એ એક વાત અને એનાથી આગળની સ્ટેજ કષ્ટનું સંવેદન જ ના હોય કષ્ટનું સંવેદન જ નહીં અમને That's right. એક પણ વીસ હજાર માં એક પણ માણસ ને કષ્ટ નું સંવેદન જ ન થાય સ્વસંવેદન જ રહે સ્વ સ્વસંવેદન हाँ પર સંવેદન નહીં ये पर संवेदन तो नहीं पर जैसे कांटा चूहा अब कांटा चुभता है तो दर्द होता तो है क्या है महाराज साहब दादाजी जो हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आप आपने जो कहा ना कि दो परिस्थिति हाँ। होती है पर हाँ। एक परिणाम में हाँ। कष्ट होता है लेकिन उसके प्रति संभाव। एक संभाव हाँ। यानी उसके प्रति उसका उसका ये एक अ, हथियार है हाँ, हाँ। एक एडजस्टमेंट रहा बीच ठीक में है। और दादाजी जो ज्ञान देते हैं उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है हाँ। तो उसमें ये सब कोई बीच में का मीडियम ही नहीं है हाँ। डायरेक्ट ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये एक स्वरूप दिखाता है हाँ। और खुद ज्ञाता पद में रहता है हाँ। यानी वो दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभाव रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा वो घे और खुद ज्ञाता है संवेदन नहीं होता अहंकार की बात बात हम्म। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है अब ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे समभाव से खेल देते और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की दो बनती तो एक तो वह स्थिति बन जाए तो जिसमें अनस्थेक्षा की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए या संवेदन ही आपका जो कहने का मतलब ये है कि बॉडी हाँ। को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो थी वो जो थी बॉडी को इफेक्ट नहीं हाँ। शरीर में ये अनुभूति हो कभी कुछ हाँ। लग रहा कुछ लग रहा पर हाँ। ज्ञान नहीं ध्यान नहीं ज्ञान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा आएगा हाँ। लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होगी जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग बीमार के विज्ञान तो ठीक है वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है हाँ, वेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म। पर मैं समझता हूँ इसमें संभाव ही प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उससे भी आगे की स्थिति है तो ये अभ्यास कराया जाता है कुछ दिनों नहीं तक नहीं नहीं वो जो तो? ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है एक घंटे और का उसके ये एक घंटे तक लगातार ऐसे चोट देते हैं नहीं नहीं नहीं वो जो ज्ञान विधि कर देते हैं ज्ञान हाँ। वेद विज्ञान देते हैं हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है हाँ। और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है हाँ। उसका हर एक परमाणु परमाणु किस तरह अलग है वो अलग बता देते આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે જ્ઞાન વિધિ શું છે પૂછે આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે છે કહું છું જ્ઞાન વિશે તો સેપરેશન ઉજ્જવલ અને આત્માનું ચેતન શુદ્ધ ચેતન ઉજ્જવલ બેનું સેપરેશન કેવી રીતે આપો છો બેસાડી જેમ છે બોલવાની જરૂર છે થોડા પ્રયોગ કરીને બતાવશો એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે ત્યારે પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं, नहीं कोई प्रयोग आपसे का- जैसे आपको कराया है, अगर कैसे प्रयोगशाला कराया नहीं थते। वो लेबोरेटरी में आएगा तब ये नहीं, प्रयोग प्रयोगशाला सिवाय प्रयोगशाला नहीं। विदाउट लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ હોય છે ટાઈમ नहीं, अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग नहीं possible। नहीं नहीं अभी प्रयोग नहीं, नहीं, भाई। प्रयोग कैसे कराते हैं આપના બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે જણ મારી પાસે મોકલો કે ભાઈ તમે આ પ્રયોગ કરીને પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી એમને તમને અહીં આગળ સ્વસંવેદન જ્ઞાન વર્ષે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું એક્સેલ પોતાનો લાઈટ હશે લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ ભરવા અંધારામાં એની લાઈટ નહીં થાય નિમિત્ત જોશે નિમિત્ત नहीं मैं पूछ सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा है आपने किया आपने तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी एक, हाँ, एक ही बार करते हैं एक घंटा हाँ नहीं करेंगे जरूरत तो हाँ। जैसा हमने देखा उस पत्रिका में श्याम जी आए थे उसमें वह देखा तो हाँ। उसमें वह था भी जो यहाँ वो तो समर्पण विधि है अच्छा, अच्छा हाँ वो ज्ञान विधि नहीं है अच्छा अच्छा वो समर्पण विधि है ज्ञान विधि अच्छा, स्पेशल दिवस में हाँ। राजा जी अपना ज्ञान का जो सेपरेशन करने का है स्पेशल हाँ। दिन में ऐसा करते हैं स्पेशल समय के हाँ, एक साथ में आपने जो बताया ना वो ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते उस वक्त प्रकार के अंगूठे को स्पर्श करना पड़ता है अच्छा। और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञानी के चरण में अर्पण करते हैं हाँ। और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है हाँ। और फिर दादाजी ज्ञान बताते हैं हाँ। यानी बोलते हैं हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं केवल बोलते ही जाते हैं हाँ सिर्फ स्वयं निकलती है एक एक वाणी एक एक ये देह के पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। वो सब विवरण करके बताते हैं हाँ। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता ज्यादा है तो मतलब पहले समर्पण विधि फिर ज्ञान समर्पण दोनों क्रम दोनों साथ में अलग नहीं होता न पहले समर्पण और फिर ज्ञान समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसका वो ले ले वो समर्पण यानी और कुछ ले भी नहीं लेते હે કરવાને હે હે કરીએ છે હે કરતા હે અને જે अनंतता का घरेलू पुण्यपात में दरिया थे पाटोई की ज्ञाननागतीति पदम होई जाएगी कई ज्ञेय बिरजाता है उपादेय कुछ है नहीं हमारे लिए पाटोई तो भीतरी है नहीं ठीक है એમ કીજે હે મટી જાય પછી ઉપાદેય કસુ રહેતો ને દુપાદે તો આપહી અંદર જ છે પાટોઈ કુછ નહીં છે દેના કુછ નહીં આગે છે ઉપાદાન પોતે જ છે પોતે છે સත්ත નિમિત તેલામ તેલું નિમિત રહા હે ઉપાદેય માને દેને હોય તો ઉપાદાન प्रयोग, बात। मैं नहीं देंगे अभी किया था वे શું કે બેન? नहीं इनको बता रहे हैं कि वे जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बात भी आगे હા એ વાત શું કે? તો પેલો માર્યું ને તીગડીએ બેન આ તમે લોકો હતા કે ના અમે નતા हाँ। પેલું માર્યું ને બૂટ માર્યો ને હા. એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછ્યા છે તો કે ના અમે નતા હતા ને તીકડે? हाँ ના, ના, પછી આવ્યા. આ લોકો પછી આવ્યા. એમાં શું જોવાનું પણ એમને સમજવાનું છે આ બધું છે ને બહાર પરદેશ એટલું ટ્રેનિંગ મળે છે લાકડી સોશિયલ मीडिया क्या भीतर है देख लोग मार के भागते हैं या लोग आते हैं અંદર लोग मार की भागी जा ભાગી જાય मार खावा માર ખાવા हाँ, को हमको बात बोलता है हमारा हाथ दुखता है ये उल्टी बात है ना अपने कहते हैं कि संसार से अकूठा ने मोक्ष से थामा हाँ बताओ એ કે છે આ આ જુદી જ વાત છે ને સંસાર થી અપૂઠા અને મોક્ષ ની આગે वो तीर्थंकर की बात है मेरी बात कुछ नहीं हाँ, है। हाँ। मैं इसमें निमित्त हूँ खाली हमको लोग राधा भगवान बोलता है मैं ना बोलता हूँ मैं राधा भगवान हूँ मैं ज्ञानी पुरुष हूँ आप दुनिया में कोई भी शास्त्र की कोई भी बात आप पूछो तो इनका जवाब करो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा वो किसी वेदांत हो કે જૈનિઝમ હો ચાર અનિયોગ હો કે ચાર વિરાટ હો કોઈ બી મુસ્લિમ હો तो अमेरिका में सब ये लोग भी मिलता था क्राइस्ट का सब था हम्म, सब तो आत्मा का आनंद ज्ञानी है ज्ञान ज्ञान है फिर भेद नहीं होता वेदांत का उसे दर्शन का अमेरिका का और हिंदुस्तान का पर हम्म। ये वे ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती कि भविष्य को हमें देखने की कोई जरूर ही नहीं वो वर्तमान में ही रहता है ठीक है भविष्य में कभी नहीं गया भूतकाल में भी गया नहीं भविष्य में गया नहीं वर्तमान अभी इधर है इधर ही घर को नहीं और घर को जाएगा इधर ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना इसमें समझ कोई आई आपको आनंद हुआ कि नहीं खराबी लगेगा नहीं ये प्रयोग है कि वे भीतर में आत्मानुभूति में रहे हम बक्षक नहीं है रक्षक है हाँ। ऐसा बक्षक की बाबत किया करता है <laughs> भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक लगता ऐसा ही है व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चौक कर रहे हैं <laughs> जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है उसमें एक- गुरु होता है वह कुम्हार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से तोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है ठीक है પછી એવું કહેવાય છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહારથી ટીપે પણ અંદરથી એને અંદર રક્ષા રાખે. આપે. हाँ, हाथ रखता है अंदर हाँ ભોગવો ના પડે ભોગવો ના પડે ભોગવો ના. तभी तो तभी तो आकार में आता है कुमार कलाकार कुमार कलाकार के अंदर राखी कभी घड़ा बनता है कभी घड़ा बनता है चैलेंज घड़ो बने गए चैलेंज घड़ो बने आकार था चैलेंज घड़ो बने सब लगता कही गया भरत हाँ जी जाओ भरत भैया ये भरत भाई है ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब का अनुभव किया हुआ है अच्छा वो इंजीनियर था हाँ। पंद्रह सौ का पगार मिलता था हाँ। उसको हमको एक तरफ मिला तो फिर इनका भाभी को तो बोल दिया हम हमारी सर्विस यही नहीं हम करा रहे पास रहेगा मैंने बोला कि इधर क्या कुछ काम है हमको कुछ काम नहीं हम्म। तो बोला आप दाल बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो हमको अभी सर्विस करो कुछ करो और लग्न करो बाहर तक कोई लग्न को मांगता नहीं हम्म। तो ब्रह्मचारी कैसा रहेगा आप हम्म। ब्रह्मचर्य रहना है पहली बात नहीं तो आप तक कृपा करो तो हमको ब्रह्मचर्य दे रहे ब्रह्मचर्य के लिए तो हमने किया आपको हम्म। फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है और इनको ये मानता था कि मैं सब सब मूर्ख आदमी है क्या मानता था सबको तो तो मतलब सबकी बातें हम्म, हम्म। तो मैं तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ हाँ। दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है अब ये दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ ये दोनों जीवन मैंने जिए है बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये भी एक्सपीरियंस तो तो आदमी अनुभव याद नहीं है आपको तो बड़ा अनुभव पूरा हुआ है नहीं तो इतनी बात हमारे साथ वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है हाँ। जो अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव हाँ। होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ की शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हूँ हाँ। जितने विषय पढ़े ये भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उससे कितना ज्यादा है उसका मुझे अनुभव फिर एक दफे हमको ऐसा बोला हाँ कि दादा आप सबका क्यों करता है हाँ। मैंने समझा कि यह आदमी का मदद कैसा है <laughs> मेरे को पक्ष बोले इतना हर हर्ष नहीं मैं उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाड़ी दो मेरे को हक नहीं मगर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारा हमको हमारे हाँ। लिए तकलीफ नहीं है तुम्हारे तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलते है कि आप अरे हाँ, मैंने बोल दिया कि तुम्हारे से इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ सस्ता नहीं है हम्म। तो तीन महीने के बाद लॉ बुक फेंक दिया हम्म। फिर बुद्धि की बात बोल दिया कि एक सेंट भी बुद्धि तुम्हारी बात औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसार इतनी नहीं है हाँ। तो इसको फेंक दो तो फिर जल्दी मेरे साथ बदला किया हम्म। बदला किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है सच्चा और बदला बदला फूल होता है हाँ। <laughs> हम समझ गए बिल्कुल सच्चा आदमी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा हम्म। जिसको पैसे की ममता नहीं वो नहीं ममता औरत की ममता नहीं पैसे की ममता नहीं ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा मुश्किल है बदला हम मैंने बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं है हाँ जीरो फिर इनकी बिलीफ जीरो हो गई जब इसकी आबादी बदला समाप्त हो गया इसकी आबादी शुरू हो गई इसके बाद गया मैं वो जीरो हो गई। એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई नहीं आए जय जय ये और इनका फादर हाँ दोनों મોક્ષ ની શક્તિ લડશે દરરોજ मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बता था कि मेरा फादर का दोस्त है फादर बड़ा आदमी है साठ पासठ बच्चा वो बोलता है कि लड़का था सब चीज तो का है फिर वो इतना इतना अवसर की एक आठ हो गई है ग्रंथि पड़ गई तो फिर हमको बोल दिया क्या कूद करके घर निकाल दो तो हमने बोल दिया तुम आस्ते आस्ते निकालो हम कैसी तो इसी करेगा फिर दोनों बोलने लगा था तो हमने एक घंटे में गंदी सब तोड़ दिया हम्म। फिर ये दोनों को कुछ नहीं बताया हम्म। ज्ञानी पुरुष के पास इनकी बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, मनोबल वचन बल ભાઈ बल तीनों होते हैं हमारे काय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत की बरबर है नहीं काय बल से मतलब चर्बी वाला नहीं है काय बल ये चर्बी वालों का काय बल नहीं होता काय बल होता है कि जिसके हर सेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अभी अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये सबका हाँ। इसको सबको आनंद में है अच्छा राजेश्याम जी आगे हाँ। पहुंचे हो કે બધો આપણો પરિવાર આવી ગયો છે એમ કે मेरा कोई नहीं मैं इनका हूँ मेरा कोई आप इनके एक ही बात है तभी तो परिवार बन कोई चीज मेरी नहीं है अभी कोई ले रहे हैं हाँ। तो हरकत नहीं नहीं ले रहे तो भी हरकत नहीं सब कपड़ा बपड़ा ले रहे कोई हरकत नहीं नहीं ले रहे तो भी हरकत नहीं ऐसे हम चीजें नहीं कि ले लो मेरी कुछ चीज नहीं मैं उनका हूँ निरंतर ज्ञानी को भी लेबोरेटरी रखनी पड़ती है ये आश्चर्य बात हाँ, लेबोरेटरी यानी को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है हाँ ये आश्चर्य लगता है क्या नहीं नहीं जब निरंतर ज्ञानी है, जो निरंतर ज्ञानी है उसको लेबोरेटरी होते हैं એ પેલું તો આપણે જ્ઞાન વિધિ ની વાત કરી ને કે અહીંયા નહીં પણ લેબોરેટરી માં અપાય તો કે છે કે જ્ઞાની ને જેને નિરંતર લેબોરેટરી હોય એને ખાસ લેબોરેટરી માં કા- કરવું પડે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું એમ. શું કરવું પડે પેલો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરી માં થશે અહીંયા નહીં થાય તો કે એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય ऐसे છે आश्चर्य नहीं है लेबोरेटरी जैसा मालूम है हो सकता है आप थे ये सूर्य का असर है बार आप खाना नहीं खो जाए खाएगा हम्म। आप नहीं खाएगा ना हाँ? पर पहला खाता है ये कुछ नियम होता है नियम हाँ। देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है हाँ, नियम तो होना चाहिए कोई नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होने चाहिए अभी कोई आदमी इधर सो जाए कितना खड़ा दिखाता है और आपके नहीं सो जाए तो भी खरा दिखाता है <laughs> ऐसे कुछ नियम होना चाहिए हाँ। आपको ठीक नहीं लगा आपका आशीर्वाद चाहिए हमको <laughs> नहीं ये सबको ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દર્શનાવરણ નું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનું વિશેષ હોય हाँ, प्रभाव निमित्त प्रभाव रात को एनो बनता વધારે है इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टयी के साथ ही हो सकती है शायद कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग हाँ, तो तो मेरी बात आपको समझ हाँ। आप कहते हैं समझ आ गई आप कहते हैं का तो कोई प्रश्न नहीं है आपको संतोष नहीं हुआ है मेरी बात नहीं हुआ है संतोष नहीं हुआ नहीं तो संतोष टाइमिंग चाहिए પેસ્ટ चाहिए શારીરિક hmm. hmm. तो उससे कार्य तो होता है अपना अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सर्कम से जगह हो जाता है सब कार्य होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल जान होने की सुविधा हो जाती है वह स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે સિદ્ધ શિલામાં જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાઈ છે કામ नहीं नहीं सिद्ध शिला एक स्थान हमारे यहाँ मनुष्य लोग में। મનુષ્ય લોકો हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है वो अन्नाड़ी देश में चले गए ના એ કે છે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે हाँ भाई क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ क्षेत्र का प्रभाव काल का प्रभाव दृष्टि का प्रभाव भगवान को भी आर्य देश में से अनादि देश बिहार करके अनार्य देश में जाना पड़ता था हाँ। पड़ा था अनार्य देश में जाना पड़ता था ऐसे कुछ न कुछ होना चाहिए आपको संतोष नहीं हुआ हमारे पास। कभी संतोष हो जाएगा नहीं ऐसे नहीं संतोष कह रहा है कर दो हमको तो आपके लिए संतोष है मैं ऐसे कह रहा था कि जो जैसे इतना भगवान है हाँ, महावीर थे तो उनको जब जो प्रश्न का उत्तर देना था जो विधि देने थी तो उसके लिए कोई अलग ऐसे देश क्षेत्र काल तो जैसे होगा होगा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब अनंत शक्ति को अपने मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी खेत के ला सकते होते हैं समय को भी इसमें पैदा कर सकते हैं वो ऐसा नहीं એમ કે છે કે ભગવાન મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને ક્ષેત્રે આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય આવા પુરુષોનું કઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट सामर्थ्य हम्म, हम्म, नहीं होता हमको भी सामर्थ्य नहीं बिल्कुल नहीं होता ही नहीं है तो देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ, हाँ। हम तो आपने पोता खुद का खुद का पोता पढ़ा नहीं है हम पोटले ले जाता है तो हमको हमको ले जाता है हाँ, अच्छा। नमो मित्रा है अभी हाँ <laughs> साहब के संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत है नहीं संतोष नहीं चाहिए। नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ हाँ इसलिए संतोष है <laughs> એટલે તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું છું એટલે સંતોષ છે हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना आपने किसी एक के बस की महावीर बात का ही सभी है आपने हाँ, महावीर का महावीर का है। बिल्कुल है। ठीक वो है। અહંકારી का काम है हाँ। ज्ञान का। पर अगर केवल दर्शन केवल ज्ञान अगर का- ऐसा होता और कषाय का अभाव करने के लिए सब जगह हो रहा है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बनाकर ही जाते पर बने बाद में એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવી જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पति है क्योंकि प्रशस्त राग था इनकी हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सबको भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सबको तो मैंने बोल दिया भरे रहने दो तो मत करो राग क्या काम करता है संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है सबका प्रशस्त राग मेरी पर गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग हाँ और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके महावीर गायर समाप्त हो गया और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी उनको हम्म, हम्म। तो समाधि हो गई चिंता मट गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं दो जैसे व्यवसाय में मोक्ष मिलने वाला ये भी चौकस हो गया मतलब अभी काम धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है कि सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा बीच कोई बिजनेस नहीं और हिंदुस्तान में और जो जिन्हें पुण्य धर्म समझता है हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ विकराग का धर्म खुला हो जाओ समझता है अच्छा उद्देश्य है अच्छा धर्म अभी वितराग धर्म यथार्थ नहीं है नहीं हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ विकराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारी बात मैंने एक बोलता है कि तुम्हारा सत्पुरुष तुमने कैसा सत्य दीक्षा दिया तो आपको कैसा दीक्षा हो गया हमने हमारे गुरु पालन ने दिक्षा दिया है हाँ। देखो ये घट की दीक्षा है सच्ची दीक्षा नहीं ये विकराप की दीक्षा है सच्ची दीक्षा है घट की दीक्षा एकांतिक दीक्षा है अनेक है हम्म। और हमने अनेक दीक्षा दिया है और जब तक भेद दीक्षा नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बाद की बात है चरित्रवाद की बात और वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था कि नौकार मंत्र हम कितने आदमी को देता है कोई फलित क्यों नहीं होता है हम्म। मैंने बोल दिया तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारी समझ नहीं होगी तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज तो बोल दिया मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दधी भी क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको तो ये बोलने लगा कि नमो हरिहंकार नमो सिद्धांत तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धांत बरोबर है नमो आयरिया बरोबर है नमो વજ્જાયણ બરોબર નમો લોહી સર્વધામ બરોબર નમો હરિહંતા એમ કિતું બોલતા હે કહ્યું આપ તો બોલને લગા સ્વામી થી તો देखो आप विचार करके बोलो स्वामी श्री तो सिद्ध हो गया अरियंतानंद नहीं है सिद्ध को अरियंत कैसा बोल रहे हैं मेरी बहुत बड़ी भूल होती है पहले से भूल रही आखा मार्ग पर ही भूल चल रही है અને इसे नौकार मंत्र फलीभूत नहीं होता है तो फिर हमने बोलने लगा कि क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि सिमंत स्वामी का अरिहंत मान लो क्योंकि ये अभी अभी है अभी है समिंदर स्वामी इधर भी है मगर है आप समझ गए प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो वो ए, सिद्ध हो गया जो स्वाई सिद्ध और सिद्ध को अपने ये बोलना अरिहंत बोलना ये आचार्य को आज उपाध्याय भी बोलना आज चाहिए भी एक नहीं बीस तीर्थंकर। हाँ बीस तीर्थंकर तो बिघर मार और और भी ज्यादा हो सकते हैं એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહરમાન છે नहीं वो भी सिद्ध की सीमंत शादी की बात दी हाँ, हाँ, है अपने ये भूमि के लिए ये भारत भूमि के लिए सिमंदर शादी की बात और हम्म। वो सबके लिए बात हो है सिमंदर स्वामी का वो हम आ, इनको सबको भलामन करता है कि सीमंदर स्वामी को डाल दो उसका कोई बोल नहीं कोई रोड़ाना बंद है आपको ठीक लगता है और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए इतनी जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमारा आश्रम रखने वाला आदमी आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है કે આપની નહીં है, हमारी भी नहीं है તમારો નથી ને અમારો નથી नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब नहीं लोग नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ छोटा बड़ा आश्रम क्योंकि मेरे को आश्रम आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सत अधिक दुषम काल है ना दुषम काल में आश्रम में विचना करता है आप लोग सब लोग के नहीं पर मगर कितने लोग तो ऐसे ही करता है आपकी समझ में था ऐसे हम कोई मांगता है नहीं हम तो एक झाड़ के नीचे बैठो और सत्संग करो फिर हमको एक संकेत हुआ कि सिमंदर स्वामी का मंदिर बनाओ और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव हम्म, जो सला का पुरुष है हम्म, इसका एक मंदिर बनाओ हम्म, और इनके साथ नमः शिवाय का मंदिर बनाओ हम्म, इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है अच्छा। तो इसलिए तैयारी हो गई ये तीनों रखे हैं आपने ठीक है मंत्र में भी तीनों रखे એટલે हैं મ- आपने। મંત્રમાં પણ ત્રણેય છે हाँ श्रीमंत्र के क्योंकि वो आचार्य मेरे मेरी मेरे साथ आया जैसा मरीज हो बना था ये हम्म। था मैंने बोलना कि क्यों ऐसा करता है आप हम्म। एक मंत्र था नौकार मंत्र में इससे दोनों क्यों लगा दिया आपने हम्म। मैंने मैंने इनको समझाया कि सज्जा करने का चाहे छोटा करने का है तो करने का तो सज्जा की बात समझ दो नौकार मंत्र है वो संयस्त मंत्र है क्या है संयस्त है वो सब लोग के लिए नहीं है ધન્ય જ તો